राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है एक परमवीर चक्र विजेता के अदम्य साहस का परिचय देता हुआ यह कार्यक्रम शीर्षक है मेजर सोमनाथ शर्मा विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने बहुत ही बढ़िया बोला बहुत ही बहुत हाँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा।, हाँ। अच्छा अरे वाह मेघा मजा आ गया आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में ना ना तो ना नहीं अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी अरे मोहित तुम ही बोलो ना मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है बोलो ना हाँ मेघा दिखा देना नंदनी मैडम को भी पर हम भी तो देखें इसमें है क्या <laughs> प्लीज दिखा दो अरे चुप चुप देखो मैडम आ रही हैं चलो चलो सब क्लास में चलो अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी चलो चलो चलो चलो चलो good morning madam good morning good morning हाँ तो बच्चों आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी बहुत अच्छी हम्म। मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला हाँ केतकी मेघा इधर आओ जी मैडम हम्म, शाबाश शाबाश <laughs> हम्म। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर धन्यवाद मैडम <laughs> क्या मिला पुरस्कार में जी मैडम आप ही कहते तो इंतजार कर रही थी अच्छा कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी हम्म। मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार लीजिए मैडम हम्म, हाँ इसको खोलते हैं हाँ हम्म अरे वाह ये तो एक किताब है अरे किताब मिली है हाँ हम्म। शीर्षक है आ, हमारे परमवीर चक्र विजेता वाह मैडम किस विषय पर है ये किताब मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है सैनिकों के बारे में हम्म। सैनिकों के बारे में है अच्छा अच्छा अब्दुल हमीद के बारे में है इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं वही है ना मैडम हाँ मोहित पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है हाँ मैडम मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है हम्म हम्म। वो कहता है कि आ, उसके दादाजी के एक दोस्त हैं उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था अच्छा आ, उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे हम्म, वाह क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो हाँ केतकी परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं हम्म। सैनिकों को तो करनी होती बहादुर है हमारे सैनिक अरे वाह इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। हम्म। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज मुझे भी इसके बाद में नहीं पहले मैंने कहा था पहले मैं हाँ हाँ हम सब पढ़ेंगे एक एक करके पर मेघा